राम भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो बहुत भाग्यशाली है आप सब लोग बहुत बहुत भाग्यशाली है वसंत भाई साहब जयंती भाई साहब ये दिलीप जी के दुलीप जी ये योगेश शुक्ला जी ये हर्षद जी ये सब बड़ी ले आए हैं उनकी हाजिरी में ये आपता पुत्रो आपता पुत्रों स्वामी जी के हाजिरी में आपने आपके अनंत काल से बचा हुआ जो सही पॉजिटिव पुण्य था वो पुण्य आपका निमित्त बना और ये शरीर उनका अंदर की अनुभव दशा दादा भगवान स्वरूप की वो शरीर निमित्त बन गया और आपका पुण्य का निमित्त से हमारे अंदर के आत्मा स्वरूप के शुद्धात्मा के अनुभव के प्रमाण से आपको आपका ज्ञान काम बन गया हुँ? हम्म? और आपने आप, आपका खुद का ही आत्मा आत्मा स्वरूप का सही गुणों से आपने जान लिया देख लिया सही ढंग से ये आज कृपा है कृपा से प्राप्त हुआ है असीम कृपा से प्राप्त हुआ है और ये एक काल में कृपा साध्य ही है आत्मज्ञान आत्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप ज्ञान हमेरा ये कृपा साध्य है साधन आज सीमा वाले साधन से प्राप्त नहीं और आज का कलयुग का साधन भी उनके लिए सही नहीं है हम लाख चाहे नहीं कर सकते लाख करो तो भी इसीलिए आज एक काल में कृपा साध्य हुआ है और एक काल में आज एक कृपा से आपको जो प्राप्त हुआ है तो उसमें आपका बाकी रहा व्यवहार कैसा करेंगे अब शुद्धात्मा हूँ ऐसा व्यवहार रहने देना वाला नहीं है इसलिए आपका व्यवहार सभी ढंग से सरखी रीत से अपना निकाल होता जाए उसके लिए एक सादी रीत पांच आज्ञा से समझाते हैं पांच आज्ञा उसको पांच मूल वाक्यों जो मोक्ष जिससे मोक्ष हमारा स्वभाव खुला होता जाता है वो हम आज्ञा स्वरूप से देते हैं आपको और ये दीपकानंद स्वामी जी कुर्सी लाए हैं आप हाँ तो यहाँ रखेंगे अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं ऐसा करो थोड़ा अरे तू हाँ, निश्चितानंद जी आप यहाँ आ जाओ ये बाजू आ जाओ हाँ, बस बस बस बस तो ये दीपकानंद स्वामी जी आपको पांच वाक्य दृष्टांत के साथ थोड़े में समझाएंगे हाँ और वो अच्छी ढंग से समझ लेना मैं अभी जरा जा का आता हूँ चलो ध्यान से समझना जहाँ जिसको समझ न हुए तो उनसे पूछते रहना हुँ? हम्म, पांच वाक्य है खाली पांच आज्ञा ओके और आज्ञा वो ही धर्म होगा हमारा शुद्धात्मा धर्म और आज्ञा वो ही तप हमारा होगा तप तप महीना कष्ट क्रिया नहीं तप महीना अंदर से सहन भाव सम भाव समता से सहन कर, लेना जो कुछ आवे दिल को खूपे ऐसा कांटे खुपे ऐसा आएगा कटु वचन आएगा सबको आएगा वो तप अंदर से होगा और कलयुग है उसके लिए शरीर से तप करने की कोई जरूरत नहीं आपो आप सारा जीवन दरमियान तप आते ही रहेंगे कलयुग है ना इसीलिए पगले पगले में टप आएंगे तप है तो ये आज्ञा समझ लेना पांच वाक्य दृष्टांत के साथ समझाना सही मैं आता हूँ अभी आप जरा ध्यान से सुनिए जय सच्चिदानंद क्या हो गए आज आप आज क्या हो गए हंसने का नहीं है बोलने का है शुद्धात्मा हो गए कितने प्रतिशत हो गए दस पंद्रह बीस पच्चीस क्योंकि आपको बुलवाया कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ उसका मतलब क्या होता है कितना प्रतिशत शुद्धात्मा है आप सौ प्रतिशत शुद्धात्मा है अभी ऐसा है ना कि आप यही यानी ये सत्संग के ही परिचय में रहेंगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दादाजी के साथ साथ रहेंगे तो कुछ ज़रूरत नहीं है आगे कुछ क्योंकि आप उनको देखते रहो समझते जाएंगे आपका काम होता जाएगा लेकिन आपको तो घर जाना पड़ेगा ना जाना पड़ेगा ना तो जाएंगे लेकिन यह जो हमें मिला है वो आपकी क्या मेहनत थी हाँ मेहनत थी तो दादाजी अलवर आए अगर वहाँ बुलाते बड़ौदा वगैरह तो बोल सकते थे कि आप मेहनत करके आए यहाँ तो दादाजी आए हाँ एक मेहनत और भी बोल सकते कि आप घर से इधर तक आए घर से इधर तक आए करके मेहनत बोल सकते हैं लेकिन आज हकीकत में यह जो हमें प्राप्ति हुई है वह केवल कृपा से हुई है हम तो यहाँ के बैठे हैं उन्होंने जो बुलाया वो बोल दिया यह करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं पहले तो घर छोड़ना पड़ता है घर छोड़े बगैर यह शाला में प्रवेश नहीं है और दादाजी ने कहा आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज के ये समय में ये कृपा साध्य है कृपा साध्य है और ये कृपा से हमें प्राप्त हुआ है और उसमें कितनी शंका है तो बोले नहीं सौ प्रतिशत अगर आप बोलते हैं कि आप शुद्धात्मा हैं तो उसमें कितनी शंका मान ले शंका कितनी है सौ प्रतिशत अगर आप शुद्धात्मा है तो उसमें कोई शंका रही नहीं ना लेकिन आप तो बाहर जाएंगे घर पर रहेंगे काम धंधा करेंगे बच्चों को बड़े करेंगे पढ़ाएंगे सब कुछ करेंगे लोगों से मिलेंगे वो पूछेंगे आपको अरे आपको कहीं देखा है तो आपका क्या परिचय देंगे जल्दी बोलो आपका परिचय क्या देंगे मैं शुद्धात्मा हूं करके बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बोलेंगे अभी यहाँ बोलेंगे ना शुद्धात्मा तो लोग जानते हैं कि शुद्धात्मा क्या है नाम क्या है ठीक है लेकिन बाहर तो ये लोग जानते नहीं ना बाहर क्या जानते हैं मेरा नाम मनीष है और मैं बाहर क्या जानते हैं मेरा नाम मनीष है और मैं कौन हूं बाहर जिनको ये ज्ञान नहीं मिला है वे क्या जानते हैं मेरा नाम मनीष है और मैं मनीष हूँ सही में मनीष हाँ हाँ मैं मनीषी हूँ जो हमारी स्थिति थी जैसे कि आप आईने में अपने आप को देखे पहले ये ज्ञान मिलने से पहले तो आप किसको देखते थे आप बताइए खुद को यानी खुद यानी कौन हाँ नाम क्या नाम लेकिन हाँ आप शकुंतला को देखते थे अभी आयना के पास जाएंगे और तभी मानते थे क्या मैं शकुंतला हूँ देखा किसको शकुंतला को अभी आप आईने में जाएंगे आईने के पास कौन दिखेगा आपको शुद्धात्मा दिखेगा कौन दिखेगा जल्दी बोलो शकुंतला ही दिखेगी आप कौन हैं मान्यता बदल गई आप समझे आईने में वही व्यक्ति को देखते हैं नामधारी को ही देखते हैं लेकिन मानते हैं क्या मैं शुद्धात्मा हूं अभी ये क्यों मानने की बात करते हैं क्योंकि ये कृपा से मिला है आज बोलना और मानने में भेद पड़ गया पहले बोलना और मानना एक ही था सही है तो बाहर अगर कोई पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि मैं शकुंतला हूँ लेकिन अंदर से क्या समझेंगे मैं शुद्धात्मा हूँ तो यह जो भेद है यह जो फर्क है उसको पहली दो आज्ञा से बताया गया है पहले आप शुद्धात्मा हो गए वो सही बात है अभी अभी आप जो भी बाहर जाते हैं आपको तुरंत वापस आना पड़ेगा ही कोई जल्दबाजी मत करो आज वो शादी की विधि अगर अधूरी रह जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा वो शादी की विधि अधूरी छोड़ते ही नहीं है ये भगवान के साथ की शादी है तो इधर जल्दबाजी मत करो आधे घंटे में कोई दुनिया ख़त्म हो जाने वाली नहीं है हाँ ट्रेन का टाइम हो गया है किसके साथ आए आप पापा मम्मी किधर है तो उनको बोलो समझा दे आपकी जिम्मेदारी अभी हाँ वो जिम्मेदारी लेना चाहते तो आप ले सकते हैं ठीक है आप शुद्धात्मा हो गए शुद्धात्मा प्रकाश स्वरूप है शुद्धात्मा को किसके अंदर रहना है शुद्धात्मा के नीचे कोई है शुद्धात्मा के ऊपर कोई है बोलिए ना शुद्धात्मा में कोई भेदभाव नहीं है शुद्धात्मा को आज्ञा की जरूरत है शुद्धात्मा को कोई आज्ञा की जरूरत नहीं है तो यह आज्ञा किसको दी जाती है नामधारी को दी जाती है आप शुद्धात्मा हो गए आपको आज्ञा की जरूरत नहीं है लेकिन ये नामधारी है ना उनको आज्ञा की ज़रूरत है आज्ञा की ज़रूरत क्यों है क्योंकि अभी आप व्यवहार में रहने वाले हैं और व्यवहार के धक्के हिसाब सब बाकी है यहाँ से कोई धक्का मारेगा वहाँ से कोई धक्का मारेगा तो आपको ये ध्यान रहेगा नहीं ख्याल रहेगा नहीं कि मैं शुद्धात्मा हूँ तो हमारा ख्याल और हमारा लक्ष्य हाजिर रहे इसीलिए और अनुभव भी हो इसके लिए यह आज्ञा दादाजी हमें देते हैं ताकि हम व्यवहार में रहें शुद्धात्मा दृष्टि के साथ यानी दृष्टि का मतलब मान्यता के साथ दृष्टि का मतलब मान्यता और ज्ञान का मतलब अनुभव यह दृष्टि से हमारा अनुभव खुला होगा लेकिन बीच बीच में का जो रास्ता है वो आज्ञा धर्म पालन का रास्ता है और वह क्रिया नहीं है केवल समझ है तो यह आज्ञा नामधारी को दी जाती है क्योंकि नामधारी का व्यवहार बाकी है ठीक है तो यह पहली दो आज्ञा हमें दादाजी देते हैं और बोलते हैं कि पहले क्या जानते थे आप कौन हैं मैं शकुंतला हूँ आपको पूछे तो आपका नाम ही बोलने का और नामधारी तो को, कोई और नामधारी की बात नहीं करते हम खुद की बात करते हैं हाँ मैं शकुंतला हूँ तो अभी मैं शकुंतला आप रहे कि नहीं अभी ये सब लोग देखते हैं ना शकुंतला शकुंतला का अस्तित्व है ना तो वो किस तरह से है और आप शुद्धात्मा है वो किस तरह से है तो यहाँ पर दादाजी ने सही पहचान हमें दी दो आज्ञा से पहली दो आज्ञा से जो हम चमड़े की आंखों से देखते थे उसी को सही मानते थे जैसे कि आईना में देखते थे शकुंतला को तो मैं ही शकुंतला हूँ करके मानते थे लेकिन आज शकुंतला को आप आईने में देखेंगे लेकिन मानते यानी ये चमड़े की आंखों से शकुंतला बहन दिखेंगे लेकिन अंदर से मानते हैं क्योंकि आज अंदर की आंख खुल गई अंदर की यानी ये शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया आज वो तीसरा नेत्र खोलने के पीछे तो बहुत लोग तपस्या करते हैं और आज कृपा से ये खुल गया तो यहाँ पहली दो आज्ञा दादाजी देते हैं व्यवहार दृष्टि से मैं शकुंतला हूँ निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ ठीक है बोलिए आप बोलिए जरा जोर से बोलिए ना दृष्टि से भगवान व्यवहार दृष्टि से मैं भगवान हूँ निश्चय दृष्टि से निश्चय दृष्टि से मैं लेकिन भगवान नाम है भगवान नाम है ये वे जानते हैं ये भगवान नहीं हूँ आज असल में खुद का भगवत स्वरूप पहचानने में आया कि मैं शुद्धात्मा हूँ वो भगवान करके बोलते थे लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूँ जानते नहीं थे और जानते थे वो केवल शब्द प्रयोग था जो भी ज्ञान लिए हैं वो वापस जाकर आ जाइएगा ठीक है ये दो दृष्टि का व्यवहार आज से हकीकत में शुरू हुआ ठीक है ये दो दृष्टि और पहली दृष्टि चमड़े की आंखों से जो दिखता है वो सब व्यवहार है यानी चमड़े की आंखों से जो दिखता है वो कायम ही है कि टिकता नहीं है ऐसा आंखों से जो दिखता है यह आंखों से वो कायम ही होता है कि विनाशी होता है अविनाशी होता है विनाशी आज हमारा अविनाशी दर्शन भीतर की भगवान की आंख खुल गई तो अब पहचानने में आएगा सभी जगह पर आप भगवान के दर्शन करेंगे क्योंकि आपके अंदर वह भगवान के दर्शन खुल गए ठीक है तो ये दो दृष्टि का व्यवहार आज से शुरू होगा ये आपके कौन लगते हैं अरे इतने इतना टाइम लगाएंगे बस पत्नी यहाँ दादाजी ने बहुत अच्छा बताया कि अभी ये ज्ञान मिला है तो वो ज्ञानियों का व्यवहार अलग होता है तो ये दो दृष्टि से इनका परिचय दो व्यवहार दृष्टि हाँ निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा आप इनका परिचय दीजिए व्यवहारिक नहीं व्यवहार दृष्टि से वो शब्द पलट जाता है ना तो समझ पलट जाती है तो सही शब्द उपयोग उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है क्योंकि ये ज्ञानी पुरुष का वचन है उनके वचन को कुछ भी तरह से मोड़ देंगे तो समझ पलट जाएगी अब बोलिए पति धर्मपति नहीं ना पति देव बोलते हैं हाँ और निश्चय दृष्टि से आज से पहले कभी ऐसा देखा था एक दूसरे ने किसी को भी वो दो बच्चे हैं वो किसके हैं शुद्धात्मा के जल्दी बोलो नामधारी के वो कौन सी दृष्टि से बच्चे हैं व्यवहार दृष्टि से बच्चे निश्चय दृष्टि से मेरे बच्चे मेरे मेरा बच्चा मेरा बच्चा करके बहुत छाती से दबाएगा तो वो घुटन महसूस करेगा अगर वो गुस्सा में आ गया तो वो चबा देगा आपको करेगा कि नहीं ऐसा है वो मेरा बच्चा आपका बच्चा ही रहेगा लेकिन आज से आप सुधारना दृष्टि से देखेंगे पूरा व्यवहार बदल जाएगा इसे ही भगवत व्यवहार कहा शुद्धात्मा दृष्टि से देखना उसी को भगवत व्यवहार कहा भगवान के दर्शन करने के लिए कहाँ जाते थे सत्संग में आते थे दादाजी को देखने जाते थे लेकिन हकीकत में आज दृष्टि बदल जाने से भगवान के दर्शन हो गए सामान्य तौर पर लोग मंदिर जाते कि कहाँ चले तो बोले देव दर्शन भगवान के दर्शन करने जा रहे पूजा करने जा रहे अभी हकीकत में सभी के अंदर भगवान के दर्शन करना शुद्धात्मा दृष्टि से देखना वही सही पूजा है सही दर्शन है घर पर साथ साथ रहते हैं लेकिन शुद्धात्मा दृष्टि बगैर व्यवहार करते थे आज आज से शुद्धात्मा दृष्टि के साथ का व्यवहार शुरू हो गया तो देखो इतना परिवर्तन अपने आप आएगा पहला परिवर्तन तो आज ये जो सब पाप कर्म भस्मीभूत हुए हैं ना तो उसकी क्या बताया पाँच से दस प्रतिशत हिसाब रह गया रह गया है बाकी अस्सी नब्बे प्रतिशत तो खत्म हो गया यह ज्ञान विधि के प्रयोग दरमियान भस्मीभूत हो गए अभी 10-15 प्रतिशत बाकी है क्योंकि वह हमने दादाजी को पूछ के भरा नहीं था वो अपनी मर्जी से चल के भरा था लेकिन जो भ्रांति के कर्म थे वो दादाजी ने <coughs> भस्मीभूत कर दिए उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है उसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते थे वे केवल कृपा से ही जाता है और आज यह हमारा काम बन गया अब दो दृष्टि का व्यवहार शुरू होगा अभी बच्चा कोई शरारत तो नहीं करते ना करते हैं, करते हैं तो अभी शुद्धात्मा है तो डांटेंगे कैसे जल्दी बोलो क्योंकि व्यवहार से तो माता पिता है ना लेकिन पहले क्या करते थे उसने शरारत की उसी ने की ये ऐसा है वैसा है करके आज शुद्धात्मा दृष्टि के साथ आप व्यवहार करेंगे तो क्या एक प्रार्थना कर देंगे दृष्टि मिली है ना इसीलिए हे शुद्धात्मा भगवान आप थोड़ा ज़रा बाहर बैठना या ज़रा ज़्यादा शरारत कर रहा है तो उनको थोड़ा डांटना पड़ेगा तो उससे आप संयम में अपने आप रहेंगे वो दिमाग चटक जाता है ऐसा नहीं होगा पूरा संयम में रहकर आप अपना व्यवहार अपने आप शुद्धात्मा दृष्टि से ही ऐसा व्यवहार होगा जैसे कि एक भाई साहब को बीड़ी पीते थे तो उनको आदत थी अगर कोई कॉकरोच जीव जंतु देख लेते थे ना तो उनको बीड़ी लगा देते थे नहीं तो मच्छर आ गया तो ऐसा कर देते थे लेकिन अभी मच्छर में तो शुद्धात्मा नहीं है ना कॉकरोच में है वो छिपकली में है खटमल में तो होते नहीं है जीव मात्रा में है तो खटमल व्यवहार दृष्टि से लेकिन हम लोगों का खून नहीं पीते हैं वो पीने का ढंग अलग है वैसा वो करके नहीं पीते हैं लेकिन लोगों को परेशान करते ऐसा जीवन जीते हैं ना वो टीवी का सीरियल में सब ऐसा ही बताते हैं ना तो ऐसा जो जीवन है तो इस तरह से खटमल मच्छर आके हमारा खून ले जाते हैं ठीक है लेकिन ये दो दृष्टि से देखने पर वो मच्छर में भी आप शुद्धात्मा के दर्शन करेंगे ठीक है तो यह व्यवहार अपने आप वो उनकी आदत ही ऐसा करने जाते हैं तो दादा याद आता है कि ये तो शुद्धात्मा है इसमें फिर वो भी वैसा धक्का मारते हैं वो झाड़ू से उसको हटा के बाहर फेंक देते हैं मारने का अधिकार हमारा नहीं है नहीं तो सिद्धांत ऐसा है अगर आप मारेंगे या मारने की इच्छा रखेंगे जो मरने वाले हैं ना वो कुदरत आपको हमारे तरफ धकेल देते हैं मैंने मारना तय किया है इसीलिए जो मरने वाले हैं ना वो कुदरत मुझे इकट्ठा कर देते हैं लेकिन आज से अभी ये शुद्धात्मा दृष्टि के साथ ये व्यवहार अपने आप बंद हो जाएगा उसका ढंग होता है मारने का अधिकार नहीं है जो व्यवहार में बताते अगर आप उनको जीवन दान दे सकते हैं तो आप मारो समझाने के लिए लेकिन वो किसी को याद नहीं रहता है जब ये दृष्टि पलट जाती है तो अपने आप सब व्यवहार बदल जाता है तो आपका यह व्यवहार अपने आप बदल जाएगा वो चाय में तुलसी पुदीना अच्छा नहीं लगता है ना तुलसी पुदीना अदरक वाली चाय तो नहीं अच्छी लगती है तो वो तो तोड़ना पड़ता है ले आना पड़ता है घर में ही उगाते बोलते ये तो ताज़ा अच्छा लगता है तो पहले तो ऐसे ही तोड़ लेते थे अभी तो अगर तोड़ना है तो शुद्धात्मा दृष्टि के साथ क्योंकि तुलसी में तो शुद्धात्मा है कि नहीं पेड़ पौधे में सभी जगह पर है ठीक है मनुष्य बनाई हुई चीज़ है ना उसमें नहीं है ये लकड़ी की चीज़ है सब ये तो स्टील की बनी है लकड़ी का टेबल है वगैरह वो लकड़ा जब पेड़ में था तब उसमें शुद्धात्मा थे तो उनको आप दो दृष्टि से देख सकते हैं देखना है लेकिन यहाँ अभी वो शुद्धात्मा भगवान नहीं रहे तो यहाँ दो दृष्टि से नहीं देखेंगे यानी जहाँ पर कुदरत है ये कुदरत नहीं है मनुष्य ने बनाई चीज़ में दो दृष्टि का उपयोग नहीं कर सकते ये कैमरा है ये सब वस्तुएँ हैं उसमें दो दृष्टि का प्रयोग नहीं है जहाँ भगवान है भगवान क्या कहते हैं मैं जहाँ हूँ वहाँ तो मेरे दर्शन करिए लेकिन वहाँ हम दर्शन नहीं करते इसीलिए हमारे भाव बिगड़ जाते हैं उसका एक उदाहरण लेते हैं जैसे कि एक भाई साहब को अपनी लड़की की शादी का तय करने का था वो पंडित जी के घर जाने के लिए सुबह में स्नान करके निकले बाहर और निकलते ही रास्ते में गधा दिखाई दिया तो वो क्या करेंगे सामान्य तौर पर गधे को देख के लोग क्या मानते हैं जल्दी बोलो आज काम नहीं हो चलो आज काम हो जाएगा गधे को देख लिया ना ऐसा बोलते हैं अरे इतना टाइम क्यों लगाते हैं तो सकन अब शकन नहीं मानते हैं अशुभ मानते हैं ना शुभ अशुभ अच्छा चलो बिल्ली बिल्ली चली गई बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अशुभ हो गया तो ऐसा करके बिल्ली को देख के या गधे को देख के हमारे क्या भाव होते हैं अच्छे भाव नहीं होते ना अपशकन हो गया वो चाचा फिर से घर पर आ गए बोले क्यों आ गए अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया और सामने गधे को भी देख दिया तो वापस आ गए तो वो जो भाव है वो गधा क्या बोलता है अरे मेरे अंदर भगवान को नहीं देखा वो बिल्ली बोलती है मेरे अंदर भगवान को नहीं देखा बोले कैसे देखेंगे देखा ही नहीं कभी तो खुद के अंदर नहीं देखा तो आपके अंदर कैसे देखेंगे और उनको देख के जैसा भी हमें भाव होता है तो भीतर के भगवान है ना वीतराग है उनको कोई राग द्वेष नहीं है लेकिन हमारे भाव जो जाते हैं वो घूम फिर कर हमारे पर ही आते हैं इसीलिए हम परेशान होते रहते हैं लेकिन ये जानते नहीं थे लेकिन आज ये दृष्टि मिलने से अब हमारे जीवन में शुभ अशुभ नहीं रहा आज शुद्ध दृष्टि शुद्धात्मा देखने से हमारा शुद्ध व्यवहार शुरू हो गया शुद्धात्मा दृष्टि के साथ जो व्यवहार होगा वो शुद्ध व्यवहार है और शुद्ध व्यवहार से मुक्ति मिलती है मोक्ष मिलता है घर पर रहकर ये दृष्टि मिलना मुश्किल है हिमालय में अवतारों तक अगर आप वो करें तो मिलना मुश्किल है ये दृष्टि मिलना तो ये ध्रुव दृष्टि का व्यवहार से अब हमारा जीवन जैसे वो पंछी है हवा में उड़ता है वो एक पंख से उड़ता है कि दो पंख से उड़ता है दो पंख से अच्छी तरह से उड़ता है ये पानी बहता है वो दो किनारे अच्छी तरह से बहता है कि एक ही किनारे से बहता है उसी तरह से हमारा जीवन व्यवहार अब दो दृष्टि से बिना कोई तकलीफ कोई कोई किसी भी प्रकार की कठिनाई बगैर वो बहता जाएगा जैसे वो नदी को बहने के लिए कोई तकलीफ होती है मेहनत करनी पड़ती है तो ये दो दृष्टि से हमारा व्यवहार ऐसे चलता जाएगा अभी आ, आप जैनी हैं तो सैनी है वो सैनिक कौन सी दृष्टि से है शुद्धात्मा दृष्टि से व्यवहार दृष्टि से कोई जैनी है कौन सी दृष्टि से कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है मुस्लिम में तो नहीं देख सकते क्रिश्चियन में तो नहीं देख सकते ना व्यवहार दृष्टि से सब धर्म है निश्चय दृष्टि से वे भी तो दादाजी ने क्या कहा ये शुद्धात्मा दृष्टि पाने से हम सही में निष्पक्षपाती हुए नहीं तो पक्षपात से बच नहीं सकते ये सारी दुनिया में आज कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें ना फिर भी ये पक्षपात का जहर मिट नहीं सकता और आज ये एक घंटे के ज्ञान विधि के प्रयोग में सब जहर चले गया क्योंकि शुद्धात्मा दृष्टि से आप कहाँ नहीं देखेंगे वो आप बताओ वो दुश्मन में तो नहीं देख सकते बहू सांस में नहीं देख पाएगी और सांस बहू के अंदर शुद्धात्मा नहीं देखेगी मुझे देखना ही नहीं है ऐसा बोलेगी सही है ना बोलिए ना ऐसा भी अगर होगा ना तो हमारी ये दृष्टि अंदर की ऐसी है ना वो देख ही लेगी क्योंकि उनका स्वभाव है जैसे कि आईने के पास गए तो आईना बोलेगा हमको नहीं दिखाना है आज आपको ऐसा होता है बोलो ना वो दिखाई देता है उसी तरह से हमारे जो भी भाव है मित्र भाव है या शत्रु भाव है हमें शुद्धात्मा दिखाई देगा नहीं वो दिखा देगा अगर जो दिखाता है तो आईने के अंदर देखने जो दिखाता है वो हमें देखना पड़ता है ना कि अपनी मर्जी से हम बोले हमको ये नहीं देखना है वही देख ही लेते हैं उसी तरह से अभी शत्रु नहीं रहे मित्र नहीं रहे शुद्धात्मा दृष्टि का व्यवहार ही रहा तो ये दो दृष्टि का व्यवहार से आप सोचो हमारी गाड़ी कहीं भी रुकेगी नहीं सभी जगह पर ये रास्ते में जाते हैं और बार बार वो लाल बत्ती आती है उसका मतलब क्या है रुकना पड़ेगा आपको स्टॉप बोले गए लेकिन अभी हमारे जीवन में लाल बत्ती कहीं आएगी ही नहीं सारा लाल कपड़ा पहनो फिर भी लोग हमें जाने देंगे काला कपड़ा पहनो फिर भी जाने देंगे यह बात हो गई ये शुद्धात्मा दृष्टि ऐसी है ठीक है ये दो दृष्टि का व्यवहार आज से शुरू हो गया समझ गए पहली आ गया व्यवहार दृष्टि से ये चमड़े की आंखों से जो दिखता है वो सब व्यवहार है जो विनाशी दिखता है और भीतर की आंख जो आज उसे दिव्य चक्षु बोलते हैं तो आज से हमारा दिव्य चक्षु का व्यवहार शुरू हो गया वही भगवत व्यवहार है समझ गए व्यवहार दृष्टि से नामधारी हूँ निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ हम निष्पक्षपाती हुए शुभ अशुभ रहा नहीं अभी शुद्ध व्यवहार शुरू हो गया और हम सभी जगह पर जहाँ शुद्धात्मा है वहाँ उनके दर्शन करेंगे ठीक है आगे जाए अभी आप शुद्धात्मा है आज तक आपने कितना सारा काम किया बहुत सारा काम किया वो बोले बच्चे तो इतने थे मैंने इतना बड़ा किया बोलते नहीं है पिताजी तो शायद नहीं बोलते बोलते वो तो काम करने गए थे लेकिन घर पर बैठे बैठे मम्मी बोलती है मैंने बच्चों को बड़ा किया बोलते नहीं है और वे बोलेंगे कि हमने पैसा कमा के लाए सही है अच्छा करो या बुरा करो ये क्रिया कौन करता है ये सबसे बड़ी समस्या है तो आप शुद्धात्मा है और शुद्धात्मा हो गए आज तो शुद्धात्मा तो प्रकाश स्वरूप है जैसे कि ये लाइट को कुछ काम करना होता है नहीं होता है तो ये क्रिया कौन करता है ये सबसे गहन समस्या है और दादाजी ने वह समस्या उनकी सुलझ गई और अनुभव में पक्के हो गए तो वे हमें आज्ञा स्वरूप से हमें ये देते हैं बोलिएगा जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति बोलिए नियंता जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति नियंता यानी चलाने वाला जगत चलाने वाला व्यवस्थित नाम की शक्ति है अभी शुद्धात्मा स्वयं प्रकाश है उसको चलाने की कोई ज़रूरत है वो तो स्वयं प्रकाश है स्वतंत्र है इसीलिए आज हमें मुक्ति का ज्ञान मिला हमारे हथेली में मोक्ष दे दिया है मैं शुद्धात्मा हूँ लक्ष्य प्राप्त होने से ठीक है तो ये चलाता कौन है अभी किसका शुद्धात्मा का जन्म होता है शुद्धात्मा मरते नहीं है तो उसका जन्म कैसे होगा ठीक है बताया मैं अजन्मा अमर ऐसा शुद्धात्मा हूँ तो मेरा तो जन्म ही नहीं होता है लेकिन आज मुझे ख्याल आया तो जन्म किसका होता है भगवान का लेकिन आप नामधारी भगवान का भगवान का नहीं शुद्धात्मा का जन्म नहीं होता है ठीक है आपको थोड़ा कष्ट ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि नाम और भगवान सेम है इसीलिए शकुंतला मैंने समझ गए सब समझ गए जन्म ज, जगत यानी जिनका जन्म हुआ है और वह बहता हुआ चला जा रहा है बहता हुआ चला जा रहा है कहाँ बहता हुआ जाता है बहता हुआ जिनका जन्म होता है वे कहाँ जाते हैं कहाँ बहते हुए मृत्यु तरफ जाते हैं तो जिनका जन्म होता है उनका मरण होता ही है तो जो जन्म पाए हैं जिनका मरण है उनको यह व्यवस्थित नाम की शक्ति चलाती है यानी भगवान को शकुंतला बहन को दूसरा जो सबका नाम दिया गया है नामधारी को व्यवस्थित नाम की शक्ति चलाती है अभी व्यवस्थित नाम की शक्ति वो कुदरत की संचालक शक्ति है वह कुदरत की संचालक शक्ति है वो अपनी मर्जी से नहीं चलाती जैसे कि वो भाई साहब बाहर गए और गधे को बिल्ली को देख के जो भाव हुआ तो भाव कहाँ से उत्पन्न हुए खुद से और वह गया कहाँ गया जाता है कहाँ ये व्यक्ति है ना वो व्यस्टि है यही दुनिया है ब्रह्मांडे सो पिंडे पिंडे सो ब्रह्मांडे बताए ना तो यही व्यस्टि है और यहाँ से जो भाव जाता है वो समष्टि में यानी कुदरत में जाता है ठीक है और जब कुदरत में जाता है और जब वो फल देता है तब वो व्यवस्थित होता है भाव भेजने से वक्त हमारे हाथ में सत्ता है लेकिन एक बार भाव चले गया तो फिर वो कुदरत में जैसा भी जाता है उसका फल हमें भुगतना पड़ता है आप समझ गए तो ये व्यवस्थित शक्ति इस तरह से काम करती है अपनी मर्जी से नहीं करती हमारे ही भाव जो पूर्व जन्म में हमने फेंके थे वो परिणाम रूप आज हमारे जीवन में आते रहते हैं तो ये व्यवस्थित नाम की शक्ति संचालन करती है किसको नामधारी को तो इसके सबन में ऐसा बताया कि आज से ये ज्ञान मिलने से मोक्ष नहीं होता मुक्ति नहीं होती तब तक व्यवस्थित शक्ति सब हमारा संभाल लेगी जैसे बच्चे तो बड़े होते हैं हमें तो केवल देखभाल करनी रहती है ऐसा नहीं है वो बच्चों को थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना तो मैं पूछता हूँ ये मैंने तो आप इतने छोटा देखा था कि आप इतने बड़े कैसे हो गए अंकल मैं दूध पीता हूँ मम्मी मुझे नाश्ता कराती है और मैं खेलता हूँ तो बड़ा हो गया ऐसा करके बोलते हैं वो बच्चों का बच्चों की बात बराबर है लेकिन हम जानते हैं कि ये कुदरत सब करती है ठीक है तो ये व्यवस्थित नाम की शक्ति सब हमारा काम करती है लेकिन हमें केवल देखभाल करना है देखभाल करना कैसे तो ये शुद्धात्मा दृष्टि से देखना वही देखभाल होगी उसका एक उदाहरण देता हूँ अभी घर में मेहमान आ गए तो वो घर में जो काम करते हैं उनको बोला कि भाई ये हमारे बड़े नज़दीक के रिश्ते वाले हैं तो वो अच्छा सा वो कांच के गिलास निकालो वो करते हैं ना हम वरना तो वैसे ही उसमें दे देते हैं तो वो ट्रे में लाते थे छः गिलास में पानी लाए और वो बच्चा खेलते खिलौना रख दिया था उनको दिखाई नहीं दिया ठोकर लग गई और ट्रे हाथ में से गिरने शुरू हो गई वो बहुत कोशिश की और आखिर में ट्रे गिर ही गई और कांच टूट गए ग्लास टूट गए किसने तोड़ा किसने तोड़ा वो समझो उसका नाम रामा है किसने तोड़ा रामा ने ही तोड़ा ना ये यही तो हम जानते हैं जो करते हैं जिनसे टूटा वही तो उन्होंने तोड़ा लेकिन हम उनको पूछे भाई आपको तोड़ना था नहीं नहीं मुझे मैं क्यों तोड़ूंगा तो किसने तोड़ा किसने तोड़ा अभी हमें यह ज्ञान है कि यह व्यवस्थित नाम की शक्ति चलाती है तो हम देख लेंगे कि व्यवस्थित ने तोड़ा हम समझ जाएंगे कि व्यवस्थित ने तोड़ा तो हमारा पहला प्रतिभाव ऐसा ही होगा अरे कोई बात कोई फिक्र नहीं है ये तो व्यवस्थित शक्ति ने तोड़ा है ऐसा बोलेंगे ना रामा को बोलो अगर रामा को बोल दिया कि व्यवस्थित ने तोड़ा है तो बोले ये तो कभी ने कभी ऐसा कोई करते ही नहीं है कहते ही नहीं है कल अगर उसको गुस्सा आ गया तो हमारे बच्चों को फेंक देगा और हम बोलेंगे कि हे बच्चों को क्यों फेंका तो वो क्या बोलेगा पता है व्यवस्थित ने किया सेठानी मैं क्या करूं यानि यह व्यवस्थित की आज्ञा जो हमें मिली है वह बोलने के लिए नहीं मिली है वो समझने के लिए मिली है जैसे कि अगर ऐसे ग्लास टूटते हैं तो हमारा भाव क्या होता है तुरंत बिगड़ जाता है हम गुस्से में आके वो रामा को डांट भी लेंगे बाहर नहीं डांटते तो अंदर अंदर से हमारा भाव बिगड़ता है सही है लेकिन आज ये दृष्टि से हम समझ जाएंगे कि ये व्यवस्थित ने तोड़ा हम बोलेंगे कि जरा ध्यान से चलो हाँ ये बात भी बहुत बड़ी है हाँ। क्योंकि देखिए अगर हमारे घर में ये जे एक दो डजन लाते हैं अच्छा से ग्लास अगर वो टूटे नहीं और तो भारत वाले ऐसे है नहीं बिल्कुल सात पेड़ी चलाएंगे ग्लास वाले का क्या होगा सही है तो व्यवस्थित को तो वो ग्लास वाले फैक्ट्री वाले का भी चलाना है हमारा भी चलाना, चलाना है, है। तो है। चलती है वो तो तो व्यवस्थित का काम क्या सप्लाई भी करना और तोड़ फोड़ भी करना तोड़ फोड़ भी करना तो इस तरह से यह समझ कर हमारा हाँ। भाव बिगड़ता नहीं है और वो नामा को सबक तो मिलना चाहिए तो तनख्वाह में से थोड़ा पैसा काट लेने का कि आपने ध्यान नहीं रखा ना इसीलिए ये पैसा काट लेने का फिर जब दिवाली आती है तो उसको थोड़ा बोनस भी दे देने का क्योंकि हम जानते हैं ये ज्ञान से कि उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया ये हो गया तो उनको भी रहेगा मन में कि सेठ सेठानी तो बहुत अच्छे है वो पैसे काटे थे लेकिन बोनस भी दे दिया तो वो पैसे क्यों काटे थे तो बोले मुझसे ये गलती हुई थी इसीलिए तो मुझे ध्यान रखना चाहिए तो यह व्यवस्थित के ज्ञान से हमारा व्यवहार अच्छी तरह से चलेगा जिनको जो सबक सिखाना है बोलना है वह भी होगा हमारा व्यवहार भी चलेगा ठीक है तो यह ऐसा बताया गया है कि अगर यह व्यवस्थित का ज्ञान यानी व्यवस्थित की आज्ञा हमें पूरी पचन हो गई जैसे ज्ञानी पुरुष को पचन हुई है इसीलिए वे आज्ञा स्वरूप से हमें देते हैं यह बाहर बोलने के लिए नहीं है अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ये तो व्यवस्थित ने की क्योंकि सामने वाले को अगर यह ज्ञान नहीं है तो वह दुरुपयोग करेगा और उसकी जिम्मेदारी हमारी आती है वो व्यवहार हमारे घर पर ही होगा बच्चों के साथ अगर कुछ ऐसा बोल देते हैं करते हैं तो हम बोलेंगे कि नहीं ये तो व्यवस्थित नहीं किया तो बच्चा कुछ गड़बड़ करेगा तो वो बोलेगा कि मम्मी ये तो व्यवस्थित नहीं किया तो ये बोलने के लिए नहीं है समझने के लिए है ठीक है तो यह व्यवस्थित का ज्ञान अगर हमें पूरा पक्का अनुभव में आ गया तो कहा एक तरफ मन वचन का व्यवहार शुद्ध होता जाएगा मन वाणी मन वाणी कहा का व्यवहार इस तरह से शुद्ध होता जाएगा संयम अपने आप बना रहेगा ऐसा है तो ये तीसरी आगे आप समझ गए ठीक है जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति यानी ये हमारा मन वाणी काया का जगत जो है उसे व्यवस्थित शक्ति चलाता है सबको मोक्ष हाथ में आ गया आखिर तक का सब व्यवहार व्यवस्थित शक्ति चलाएगी ठीक है चौथी आ गया अभी आप तो शुद्धात्मा संबंध हाँ शुद्धात्मा हो गए तो आपके बोले कि इधर अभी सात अबज आबादी हो गई तो आपको कितने लोगों से लेना दिए सात अबज से लेना देना है अरे सात अबज क्या ये भारत के भारत के <laughs> एक एक अबज से ऊपर हो गए अरे अलवर के कहाँ जा <laughs> बोलिए तो कितने लोगों के से आपका लेना देना होता है पचास पचास फिर आगे आप सोचिए ना पाँच पंद्रह हज़ार अगर कोई बड़े नेता होते तो उनको ज्यादा लोगों ने लाखों के संख्या में होते लाखों तो इतना नहीं होता है किसी हाँ। को नहीं तो खलास हो जाएंगे नहीं जो बड़े बड़े नहीं, नहीं, नहीं। राजकरणी होते हैं उनका व्यवहार थोड़ा लंबा होता है लेकिन हमारा व्यवहार तो कितना अच्छा। दस पंद्रह बीस हजार पच्चीस हजार तो ये लोगों के साथ हम आते थे तो क्या और, करते और घर में कितना पांच एक घर में पचास है नहीं नहीं घर में तो तीन अभी तो दस बीस बच्चे हुए इनके घर में चार ही है दादाजी माता पिता साथ रहते हैं इतना छोटा व्यवहार के लिए तो सारा जीवन गवा देते हैं दादाजी घर में छह लोग हैं इनके घर में हाँ तो है ना हाँ कभी एक दो ज्यादा हो जाते हैं हाँ <laughs> और तो आगे जमाने में दस बार पंद्रह होते थे अभी तो कम हो गए सब हाँ तो देखो क्या करते थे अगर हमारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार होता था तो हम क्या करते थे हमें अच्छा लगता था अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करते थे तो हमें गुस्सा आ जाता था तो क्या हम्म। बताते हैं क्योंकि हम ये जानते नहीं थे कि ये व्यवस्थित नाम की शक्ति करती है और वह हमारा फल देने का काम करती है वो अपनी मर्जी से नहीं करती ठीक है तो यह जानते नहीं थे इसीलिए हम राग द्वेष करते थे आप समझे राग द्वेष करते थे और राग द्वेष से वो नए कर्म बनते थे समष्टि में हमारे तरफ से यह भाव जाते थे ठीक है तो एक तरफ परिणाम खाली यानी खाली होता है और दूसरी तरफ वह टंकी भरती रहती थी अभी ये ज्ञान मिलने से ये भरना बंद हो गया क्योंकि भरना चालू होने के लिए आपको अंदर से ये होना ज़रूरी है कि मैं भगवान ही हूँ दादी इनका नाम भगवान है <laughs> बोले मैं शकुंतला ही हूँ लेकिन वह तो अब रहा नहीं अगर बोले बिना ध्यान नहीं रहा फिर भी बोलेंगे कि आप कौन हैं तो क्या बताएंगे मैं शुद्धात्मा हूँ बताएंगे ही ख्याल नहीं रहता फिर भी अंदर तो यह है इसीलिए कर्म के बीज पड़ते नहीं है यह ज्ञान की बलिहारी है इतनी बड़ी विशिष्टता है कि नई कर्म बनेंगे नहीं लेकिन ये आज्ञा का ध्यान रखना जरूरी है आवश्यक है आज्ञा ही धर्म स्वरूप बताया है तो ये व्यवस्थित नाम की शक्ति तो हमने देख ली तो ये ऋणानुबंध वाले जो है उसके साथ हमें क्या करना है तो ये चौथी आज्ञा बताई उनको दादाजी ने फाइल बताई फाइलों का समभाव से निपटारा करें बोलिए फाइल लोका समभाव से बताया यानी अगर कोई झगड़ते आए या प्रेम से आए दोनों का समभाव से निपटारा करे ऐसा अंदर से हम तय रखे नहीं तो पहले वो ऐसा हमने सोच रखा था ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे वैसा करेंगे तो वैसा करेंगे ये क्या समझते हैं अपने आप को हमसे तो हमसे दूसरे का दूसरे को विषम भाव हो ऐसा नहीं रहना ऐसा संभाव विषम परिणाम विषम परिणाम राम द्वेष तो को विषम परिणाम बताया और उसका सामने वाला ऑपोजिट क्या है संभाव तो ये संभव से निपटारा करना ऐसा हम पक्का रखते हैं ठीक है तो ऐसा बताया है आप शुद्धात्मा हो गए अब फाइल बाकी है और ये फाइल का क्या करना है तो बोला ये फाइल का संभव से निपटारा कर दो ये सब सभी फाइल का संभव से निपटारा हो गया क्योंकि जिन लोगों के साथ हमारा लेना देना है वही हमें इकट्ठे होंगे उनसे हमारा लेन देन होगा जिनके साथ हमारा हिसाब नहीं है वो मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे तो उनके साथ कोई व्यवहार नहीं होगा जैसे कि ये कमरे में इतने सारे लोग हैं आप सब लोगों के साथ हाँ। मिलते ही नहीं हैं जिनके साथ हिसाब है उतने को ही मिलते हैं और उनके साथ ही अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है हिसाब से होता है और वहाँ पर हमें बताया कि हम आज्ञा में आ गए समभाव से निपटारा करना है अभी उसका एक उदाहरण लेते हैं कि आप तो शुद्धात्मा हो गए लेकिन ये जीवन व्यवहार हमारा ऐसा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा तालमेल बैठता नहीं है तो किसी के साथ झगड़ा हो गया था तो वो बात कोर्ट में चली गई थी और अभी कोर्ट की बात है तो वो तो कभी भी उनका बुलावा आ सकता है तो अभी आप तो सुबह में उठ के मैं शुद्धात्मा हूँ शुद्धात्मा हूँ करके किया सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता करते वक्त हो गया नाश्ता और फ़ोन आ गया भगवान जी आज आपकी तारीख निकली है आप जल्दी जल्दी आ जाओ वैसे तो कोर्ट ग्यारह बजे खुलती है लेकिन हमने कई टाइम से ये पेपर को देखा नहीं था केस थोड़ा समझ लेंगे साढ़े नौ बजे आ जाइए साढ़े नौ दस बजे तो आप तो बोलेंगे कि बहन जी को वैसे तो देरी से जाते हैं तो बोले ये गया तो आज ऑफिस तो देरी से जाएंगे बाद में पहले ये इसका तो ये फाइल क्या बताती है उसका संभव से निपटारा करना पहली हमारी जवाबदारी है जिम्मेदारी है तो वो जैसे कि वो फ़ोन किया वो किसने करवाया व्यवस्थित शक्ति ने करवाया उसका जो टाइमिंग उनके हाथ में है व्यवस्थित के हाथ में है हमारे हाथ में नहीं है तो जैसे आ गया तो हम समझ गए कि अभी इसका संभव से निपटारा करना बहन जी को बता दिए जरा जाना है और बाहर का कचरा खाने से अच्छा बोले अब जल्दी कुछ ना कुछ जल्दी से बना दीजिए तो उन्होंने कहा कि आप तैयार हो जाओ मैं वे तो उनकी तैयारी में होते ही है वो बोले आप आ जाओ तैयार हो आप तैयार होके नीचे आ गए वो कागज़ वगैरह आपको ख्याल रहा कि ये फाइल का संभव से निपटारा करना है अभी मुझे तो सब ध्यान लगा के आपने जो कागज लेने हैं सब लेके आइए नीचे टेबल पर बैठे बैठे बैठे जब राह देखते थे कि वो परोसे आपको आपकी नज़र रसोई घर में पड़ी तो वे उठा रहे थे पतीला पतीला उठाते उठाते वो उसको क्या बोलते हैं पकड़ते उसको पकड़ को सन्यासी बोलते पकड़ हाथ से छटक गई और पतीला किसने किया व्यवस्थित नहीं किया व्यवस्थित नहीं किया ये ज्ञान नहीं होता तो क्या होता अरे टकराव क्या आपके हाथ टूटे हुए हैं जब सही का समय पर ही आपका काम ऐसा होता है तो वो बोलेंगे क्या मेरी इच्छा थी लेकिन आपने बोला कि नहीं जले नहीं ना बोले अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया ये सत्संग में जाते तो इतना तो फर्क पड़ गया क्योंकि जरा शांति से बात करते हैं बोले अभी उनको तो टेंशन आ गया कि क्या खा के जाएंगे समाधान तो आपको देना है तो बोलेंगे कि अभी छोड़ो वो जो गिर गया वो जाने दो ऐसा करो वो आचार वगैरह हैं तो आचार दे दो रोटी और आचार खा के आप चले जाओ ध्यान रखा कि उनको भी दुख नहीं हुआ लेकिन उनको तो ऐसा हुआ कि मेरे कारण आज खाए बगैर गए लेकिन आप डांटे नहीं गुस्से नहीं हुए कागज लेके गए अभी आपको पता चला ये फाइल है जिनके साथ झगड़ा है उनको ये दो दृष्टि से देख लिया जो वकील है उनके साथ उनको दो दृष्टि से देख लिया आपके वकील है उनको दो दृष्टि से देख लिया जो लोग ये केस में समाविष्ट थे वो सभी को दो दृष्टि से देख लिया और तय किया मुझे अभी संभव से निपटारा करना है हे शुद्धात्मा भगवान हे दादा भगवान हे कनु दादाजी आप शक्ति दो मुझे संभव से निपटारा करना है यह भाव के साथ शुद्धात्मा दृष्टि के साथ आप गए उनके साथ बात हुई और योगानुयोग ऐसा हुआ कि केस सुलट गया और आप जब वापस घर पर आए तो बेन जी ने पूरा खाना बनाया था बोले शाम को तो कैसे एक सब्जी रोटी बनाते हैं ना पूरा बनाया था तो बोले अरे ये क्या हो गया आज बोले नहीं आज सुबह में आप खाए बगैर गए बाहर तो खाते नहीं है तो ऐसे ही आए तो बोले अच्छा सा खाना खाया और आइसक्रीम खा के सब लोग खुशी खुशी सो गए तो ये फाइल का संभव से निपटारा करने का इतना लाभ होता है अभी एक गौर करते हैं कि समझो संभव से निपटारा नहीं हुआ यानी कि ये ज्ञान नहीं है समझ नहीं है तो जो बहन जी से वो गिर गया आपका दिमाग छटक जाता है आप गुस्से होकर कुछ पेपर गिर जाते हैं लेना भूल जाते हैं ऐसे ही गए वो वकील साहब के पास अरे पूरे कागज़ भी नहीं लाए तो उनसे फिर वो केस कोर्ट में भी आप वो उनके साथ गुस्से से देखेंगे वो वकील को गुस्से से देखेंगे यही सब है गलती ये ज्ञान ही और व्यवस्थित का ज्ञान हमें हमारा दोष दिखाती है बाहर सब निर्दोष है जैसे ज्ञानी पुरुष सभी को निर्दोष देखते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे हिसाब का परिणाम है हम बोलते हैं सब कर्म का फल है ये ज्ञान के बगैर लेकिन ये दृष्टि के साथ और आज्ञा धर्म के साथ हमारे अंदर ख्याल रहेगा जागृत रहेंगे और उसी से हमारा व्यवहार चलेगा तो निर्दोष देखने से ही सब काम हमारा सुलझ जाता है तो ऐसा करे फिर वापस घर पर आए जो ऐसा गुस्से से बात किया था तो जब शाम को वापस आए तो घर में अंधेरा था बोले क्या हो गया अंधेरा है दरवाज़ा खटखटाया तो बच्चे ने दरवाज़ा खोला पिताजी आपने सुबह में कहा था ना कि मम्मी को चले जाओ अपने घर तो वे तो चले गए हमको छोड़ के बोलो अब बोले इतनी देरी से आए क्या खाना खाएंगे तो जहाँ संभव से निपटारा नहीं होता है वहाँ इसी तरह से धक्का लगता है और वो जो अच्छे बुरे भाव होते वो समस्ती में जाते और ये चक्कर चलता रहता है ठीक है अभी इतनी सारी फाइल है जैसे घर में पाँच छः है पहला नंबर किसको देंगे खुद को खुद को क्यों क्यों लेकिन सबसे ज़्यादा व्यवहार उनके साथ होता है क्योंकि जैसे अगर आपका दिमाग ज़रा डिस्टर्ब हो गए है शकुंतला बहन को बोल दिया कि अभी आज बहुत थोड़ा वो था मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है बोले ठीक है दो घंटा आराम कर दो लेकिन सर दुखता है उसका क्या करेंगे उसको तो यहाँ निकाल के नहीं रख सकते बाहर वालों को तो बोल दिया दरवाज़ा बंद करके आप सो गए ए ठंडा पंखा करके यानी जो हमारे साथ 24 घंटे साथ है वही हमारी फाइल नंबर वन है और अवश्य शकुंतला बेन आपके लिए फाइल नंबर टू उनके लिए उनका शरीर मन वचन काया वो फाइल नंबर वन और आप फाइल नंबर टू बच्चे तीन चार सात ससुर पाँच छः ऐसे समझ लेना है ऐसे इस तरह से समझ लेने से हमारा व्यवहार हमें समझ जाते हैं कि जैसे घर से फ़ोन आ गया तो बेल अलग से रखते हैं अरे घर से फ़ोन आया तो उठाना पड़ेगा दूसरों को अगर फ़ोन नहीं लेते तो वो समझ जाते बिजी होंगे अगर क्योंकि घर वाले हैं वो ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं क्लेम करते हैं और अगर आपने नहीं उठाया तो बोले फ़ोन क्यों रखते हैं वो पानी में जाके फेंक दो ऐसा क्या करते हैं अगर कुछ काम होगा तो ही हम फ़ोन करेंगे ना यानी क्लेम वाले यानी जो नज़दीकी फाइल है उसको पहले अटेंड करने का होता है तो ये जब सभी फाइल का संभव से निपटारा हो गया आप शुद्धात्मा संपूर्ण यानी आज से यह ज्ञान मिलने से शुद्धात्मा लक्ष्य में बैठा है वो इसे बताया कि इंटरिम गवर्नमेंट शुरू हो गई पूरी गवर्नमेंट नहीं है लक्ष्य बैठ गया है अब जब सभी फाइल का जब संभव से निपटारा हो जाएगा शुद्धात्मा की पूरी गवर्नमेंट आ जाएगी समझ गए ये फाइल का संभव से निपटारा रहा ठीक है अब जिनके साथ आंखें मिलती है ना जिनके साथ लेना देना होता है वो सभी फाइल है जिनके साथ आँख से लेना देना नहीं होता है कुछ बातें वगैरह कुछ नहीं होती है तो वो फाइल नहीं है लेना और देना दोनों सरख सरखा हो जाना चाहिए लेना देना सब कुछ अंदर से समझ के ऐसा निपटारा करना ठीक है घर वाले के साथ थोड़ा चिकनाहट ज़्यादा होती है वो क्लेम ज़्यादा होता है अपेक्षाएं ज़्यादा होती है बाहर वाले के साथ इतनी अपेक्षा नहीं होती है ठीक है तो इसीलिए घर जितना जरूरी है जगत जीतने वो जाने की जरूर नहीं है सब घर जीत हुआ वो जगत जीत हो गया आराम से सो घर ही मुख्य है हुँ? हम्म? चलो अभी पांचवी आ गया आप तो शुद्धात्मा हो गए तो बैंक अकाउंट तो होगा आपका भी बैंक अकाउंट होगा तो यहाँ से लोग जाते हैं जाते यानी कहाँ जाते पता है ना यहाँ से ये दुनिया छोड़ के जाते हैं तो कितना साथ में ले जाते हैं नहीं लोगों को ऐसा होता है कि कुछ तो आगे काम में आएगा कुछ ले जा सकते हैं छुपा के ले जा सकते हम्म, वो बहनों को सही है लेकिन लेकिन भारत भूषण जी ऐसा है कि ये जो लोगों के साथ हमारा लेना देना होता है और झगड़ा वगैरह कर लेते हैं ना वो एडिशनल हो जाता है हाँ ब्याज के साथ वो सब आगे आता है लेकिन यह ज्ञान से अब जब हम संभाव से निपटारा करते रहते हैं तो काफ़ी कुछ निकल जाता है और बाकी जो रह जाता है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है ठीक है तो साथ में कुछ आता नहीं लेकिन लोगों के साथ का जो हिसाब है ना वो साथ साथ आता है तो इसीलिए कहा कि ये पांचवी आज्ञा क्या है शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करे बोलिए शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करे अभी शुद्धात्मा वो अकाउंट की बुक होती है ना जो धंधा करते वगैरह उसकी वही खाता तो किताब जानते हैं लेकिन ये शुद्धात्मा का वही खाता कहाँ से मिलेगा किताब कहाँ से मिलेगी यही बात है और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह वही खाते में वो वही खाता जो है अकाउंट का उसमें जमा उधार दोनों होता है वो जानते हैं ना वो किताब में अकाउंट की किताब में जमा उधार दोनों होता है यहाँ पर उधार है ही नहीं केवल जमा ही है नहीं क्रेडिट ही है क्रेडिट को उधार बोलते हैं ना केवल क्रेडिट है उधार यहाँ होता ही नहीं है यानी केवल जमा ही होता है यहाँ क्रेडिट होता है उधार यहाँ होता नहीं है तो कहा कि ये खाते में कैसे जमा करेंगे ये खाता क्योंकि जो हम नामधारी का जो भी कुछ है वो यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है और जो हम भाव वगैरह जो बिगाड़ते हैं वो हमारे साथ आता है ठीक है तो अब बोले कि शुद्धात्मा हो गए तो आज से शुद्धात्मा का खाता शुरू हो जाता है और कल से भरना शुरू हो जाएगा तो बोले कैसे भरेंगे हम खाता क्योंकि हमें कृपा से मिला है तो बोले ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तो कहा ये पहली चार आज्ञा में रहेंगे ना तो पांचवी आज्ञा ने शुद्धात्मा के खाते में अपने आप जमा हो जाएगा वैसे अलवर वाले तो बहुत जागृत है और पक्के हैं और तारा जी ने वगैरह फैमिली और यहाँ के अलवर वालों ने ऐसा जादू कर दिया है कि कंपनी गार्डन भूल ही नहीं सकते और ये सत्संग हॉल तो अभी ऐसा अच्छा हो गया बोले दो दिन ऐसे यहाँ आते हैं पाँच दिन वहाँ जाते हैं और जब नहीं जाना होता है तो अंदर से होता है कि आज कुछ काम नहीं बना नहीं जा सकते हैं वो आप समझ गए कि कोई फाइल आ गई और नहीं जा पाए वो बात अलग है लेकिन आपका भाव अंदर से रहता ही है कि हमें जाना है वो संजोग की बात है तो सत्संग में जाएं वो शुद्धात्मा के खाते में जमा होता है फिर एक अक्रम विज्ञान हिंदी मासिक है वो आज खास करके जो जिन्होंने ज्ञान लिया है तो आप उनके मेंबर हो जाइए क्योंकि दादाजी के संपर्क उस सप्ताह ये दो महीने में एक बार आता है अभी वो धीमे धीमे हर महीने में आ जाएगा जैसे वो गुजराती में आता है अक्रम विज्ञान का दो दो महीने में जो जो हर एक घर में एक एक होगा तो उसमें सब ताज़ी वाणी अनुभव वाणी ज्ञान सब कुछ आता है तो अगर आप करो तो फ्रेश पड़ा होगा घर में देखेंगे तो आत्मा खाता में जाएगा हाँ, नहीं तो दूसरा इधर पढ़ेंगे तो तो अपना बेकार जाता है तो बताए जो फ्री टाइम है हमारा टाइम है अपना जो एड्रेस है बता देना वगैरह पूर्वा करके तो, तो उसे शुद्धात्मा के खाते में जमा होगा हाँ अच्छा आपके उधर आता है जिनके वहाँ नहीं आता है क्योंकि अभी यह संपर्क बना रहे और आपका शुद्धात्मा के खाते में जमा होता रहे इसीलिए क्योंकि उसमें दादाजी की फ्रेश बानी आती है जिससे आपका संपर्क बना रहता है आपको जो आज आपको ज़रूरत है वो आपको मिलता रहता है तो उससे वो होता है फ्री टाइम में कविराज के पद वगैरह है जो हम यहाँ गाए ना वो सब है वो सुनिए फिर आप्तवाणी वगैरह है लेकिन अच्छा। मुख्य तो क्या है कीर्तन भक्ति वगैरह कीर्तन भक्ति है यहाँ ये तो दादा भगवान के असीम जी जयकार बोलते हैं वो सब शुद्धात्मा के खाते में जाता है तो जैसे ये खाता पूरा हो गया तो हमारा काम बन गया अभी ये किताब जो आपको दी है वो आप ज़रा खोलिएगा सामान्य तौर पर ऐसा ज्ञान मिलने पर ऐसा ज्ञान मिलने पर ज्ञानी पुरुष के पास ही रहना होता है लेकिन हम व्यवहार में होते होते हमें यह ज्ञान मिला है इसीलिए वापस घर जाना पड़ेगा तो क्या बताया कि आप घर पर रहो और घर पर रहते रहते आपको ये शुद्धात्मा की कमाई हो और शुद्धात्मा के खाते में जमा हो इसीलिए एक प्रयोग बताया है एक प्रयोग बताया है कि जब आप आज रात को सोने जाएंगे रात को सोने जाएंगे तो कौन सो जाएगा शुद्धात्मा सो जाएगा ना सब लोग नहीं बोल रहे लेकिन नामधारी सोएगा ना तो जब आप सोने जाते हैं यानी नामधारी सोने जाए तो एक प्रयोग बताया है एक प्रयोग बताया है तो बोले आपने दादाजी को कई सालों से देखा है आज विशेष देखा है क्योंकि जब समर्पण करने के बाद जो आपने दृष्टि मिलाई वो उनका कनेक्शन हो गया अब वे कहते हैं कि आपके मोक्ष की जिम्मेदारी हमारी है मैं बंधा गया आप मुक्त हो गए लेकिन मुक्ति का एहसास करने के लिए अनुभव करने के लिए ये पांच आज्ञा जो दी है क्योंकि वो हमारा व्यवहार है और वो हमारा व्यवहार को कैसे निपटारा करे उसको कैसे हैंडल करे वो हमें ये पांच आज्ञा में बताया है बोले एक चिंता होगी नहीं एक टेंशन होगा नहीं एक परेशानी होगी नहीं और कहा कि अगर एक चिंता भी हो जाए तो बोले दावा करना हमारे पर इतने सालों में तो कोई दावा करने आए नहीं ऐसा है तो जब रात को सोने जाए तो दादाजी का मुखारबिंद जो है आपने देखा तो आंखें बंद करके उनको देखो उसे निधि ध्यासन बोलते हैं निज अधि आसन आँखें बंद करके देखना और मैं शुद्धात्मा हूँ मैं शुद्धात्मा हूँ मैं शुद्धात्मा हूँ करके अपने गान को सुनाई दे उतना रखना और नींद अपने आप आ जाएगी वो ऐसा करके जागना नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन यह एक क्या बोलते हैं एक अरेंजमेंट हम करते हैं सोते वक्त कि ताकि हमारा ध्यान दादा के अंदर ही रहे और जिनका निधि ध्यान करे वो देर के लिए नहीं कुछ आप करिए दो बार बोले पच्चीस बार बोले देखिए ये प्रयोग है एक आसान प्रयोग आपको दिया जाता है क्योंकि आप आपके सबके व्यवहार है तो व्यवस्थित शक्ति के मुताबिक ये सारा व्यवहार आपको रख रखेगा ही उसमें आपका चाह ना चाह कोई भी हो लेकिन ये प्रयोग हम तो चले जाएंगे दो दिन में तो ये प्रयोग आपके पास बताते हैं कि रात को सोने के टाइम आज कर खास करके आज आज वो केवल ज्ञान सर्वज्ञता का बीज आपके अंदर बोया गया है सर्व बीज और वो बीज है कल अमावस्या का पहला प्रकाश का दिन है कल दूसरी दूज का चांद दूसरा प्रकाश खुला हो जाएगा जैसा बताते हैं वैसा करें तो तो ये अच्छा प्रयोग है सोने के टाइम सब सोते हैं खुद सो जाते हैं सोते तो खुद को सुनाई पड़े ऐसा किसी को तकलीफ न करे ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा लेटे बोलो तो पाँच पच्चीस से बोलेंगे ना आपो आप देह को निंद्रा आ जाएगी और इतनी कुदरी अच्छी कुदरती अच्छी निंद्रा होगी कभी जीवन में आपको ये अनुभव नहीं होगा ऐसा हो और हमेशा ऐसा बनता रहेगा ऐसा करते ही सारी रात शुद्धात्मा हो तो निंद्रा आ गई लेकिन अंदर से चलता रहेगा शुद्धात्मा शुद्धात्मा तो बीज बोया गया है उसको सभी सिंचन मिल जाएगा जैसा एक माली बगीचे में लगता है तो उसकी सिंचन करता है ना आपको आप सिंचन होगा और सुबह होते ही निंद्राधीन से आप जागृत हो गए फिर भी मैं शुद्धात्मा हूँ पहला आपको हाजिर हो जाएगा आप समझे ना और पीछे हो ये भगवान जागे समझे ना तो सारा रात्रि का लाभ मिलेगा उसमें और ये आपका प्रकाश है जो आज पहला दिन का कल दूसरा दिन वो प्रज्ञा शक्ति से खुला हो जाएगा और ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश के आपको आप कांते रहेगा वो समझा और हम हमें आपका व्यवहार में चेतावनी देता ही जाएगा हमेशा चेतावनी और ये कलयुग है तो हम तो चेतावनी ऐसा ये इसीलिए प्रयोग बताया है जहाँ तक आपको लगे वो रोज़ कर सकते हो लेकिन ये पहला दिन का खास ये प्रयोग खास करना आज रात को सोते समय और पीछे लग, अच्छा लागे कि उससे फ़ायदा ज़्यादा है तो रोज़ करते रहो ये आपको प्रयोग बताया है हम्म, चलो ये पन्ना नंबर तैतीस व निकालिएगा उसमें इसमें हमने जो वेद वाक वेद ज्ञान के अपने वाक्य बोले आपने खुद बोले आपको खुद बोला और सुना आपने वैसा ही ये सारी विधि है क्या बताया ये निश्चय व्यवहार चरण विधि है पंत पत्ता बोलो पान हाँ, नंबर तैतीस पान नंबर तैतीस इधर इधर बताया है ज्ञान साक्ष बताओ सबको हाँ। लाल अक्षर से हेडिंग ज्ञान साक्षात्कार प्राप्त महात्माओं के लिए निश्चय व्यवहार चरण विधि अभी नि, आपने निश्चय व्यवहार बताया है आपने निश्चय तो प्राप्त कर लिया कि मैं निर्णय निश्चय से केवल शुद्ध आत्मा हूँ और बाकी रहा मन वचन काया फाइल अर्थात अपना पड़ोसी संबंध वाला एक नंबर का मन वचन काया और उसका जो संबंध है वो सभी फाइल है तो ये निश्चय प्राप्त हुआ निश्चय व्यवहार चरण विधि तो आप व्यवहार से चरण विधि पढ़ेंगे जोर से बोलेंगे और शब्द शब्द को बोल के अपना शुद्धात्मा का जो चित है ना उसके ऊपर से जाता रहेगा समझे न तो ये प्रयोग करके दिखाते हैं तो अपना आप व्यवहार से करेंगे तो अपना दृष्टि के अंदर जो आवरण है ना दर्शन आवरण बताया वो दर्शन और कम होते जाएंगे और शुद्धात्मा से व्यवहार दृष्टि से आपको व्यवहार दृष्टि से ही सब व्यवहार बनता रहेगा हुँ? हम्म, उसमें अपना निश्चय कोई मिक्स नहीं हो जाएगा समझे ना तो ये प्रयोग है जैसा प्रयोग हमने किया ना ये आपके हाथ में दे देते हैं अभी रोज़ नक्की किए हुए टाइम पर एक दफ़े ये बोल लेना हम्म? यहाँ खुद बोलना खुद सुनना और बरोबर समझ के तो शुद्धात्मा के प्रकाश में वो होता जाएगा एक भगवान कैस भगवान दास कैसा पढ़ता है कहीं उस, उसकी देख भाल करता रहेगा हाँ बताओ या लिखा है ये वाक्य बोलते हैं दादा भगवान को त्रिकाल नमस्कार नमस्कार नमस्कार तो पढ़ते वक्त दादा ऐसा उसके पर अपना शुद्धात्मा का तो दर्शन प्रकाश खेलता रहता है चलो उससे आवरण कम होते हैं हे निरागी निर्विकारी सच्चिदानंद स्वरूप सहजानंदी अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी त्रैलोक्य प्रकाशक शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वरूप परम ज्योति सुखधाम ऐसे हे वितरागी परमात्मा मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा हूँ मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा हूँ मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा हूँ वो तीन बार लिखा है ना इस तरह से तीन बार बोलना है तीन बार लिखा है उसे तीन बार बोलना है माँ जी को दो हाँ ऐसा आप खुद पढ़ो और पढ़ते जाओ साथ में बोलते जाओ और आपका बोले हो आप सुनते जाओ ऐसा ही प्रयोग बनता रहेगा ये भेद ज्ञान है सबू रियल और रिलेटिव दोनों अलग का प्रयोग है पूरा तो 10 बारह पंद्रह पन्ने हैं उसके तो पूरे होते हैं उसके निकालो वो पूरा हो जाएगा ऐसा पन्ना निकालो बावन, बावन बोलो ने हाँ, हाँ? अड़तालीस उनतालीस उनतालीस का पन्ना निकालो वहाँ पूरा हो जाएगा ये दीदी हाँ तो आखिर में थोड़ा बुलाते हैं लास्ट में निकाला हम्म माँ जी पढ़ सकती है नहीं पढ़ सकती है ना कोई बात नहीं मैं कहीं दखल विक्षेप न करू ऐसी मुझे शक्ति दे केवल देखभाल करने की मुझे शक्ति दे ये तीन बार बोलना है मैं केवल एक आपकी ही कृपा का अभिलाषी हूँ आपके चरणारविंद मेरे हृदय में, में संस्थापित हो वो तीन बार बोलना है मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसे पच्चीस बार बोलना है मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा ही हूँ मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा ही हूँ जय सच्चिदानंद हर रोज एक टाइम फिक्स नक्की कर लेना और नक्की टाइम से हर रोज बोलना उलट सुलट टाइम मत करना उससे सही फायदा मिलेगा आपको और सुबह ही काम में लगते पहले करो तो बड़ा अच्छा रहेगा आपको जो जिसको अनुकूल आवे ऐसा एक टाइम नक्की कर दो कोई भी शाम को कर सकते लेकिन फिक्स टाइम करो कि जिससे आपका बाकी का सब व्यवहार सरखा चलाए दिवस दिन में एक दफ़े खास करना हम्म, एक प्रयोग है आपके लिए और आपका हाथ में आया है वो अपना शुद्धात्मा का खाल बीज है वो प्रकाश होता जाएगा सब आज्ञा धर्म के प्रमाण से जैसा जीवन जाता जाएगा वैसा वैसा आज आप सबके हाथ में मैं शुद्धात्मा हूँ निर्णय निश्चय से केवल शुद्धात्मा हूँ शुद्धात्मा के ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश से आपका मन वचन काया रूपी जो पतंगा है वो पतंगा में वो दे, देखने की दूरी से हाथ में आ गया पतंगा आज तक वो कटी पतंगा होता था जन्म जन्मांतर से पुण्य पाप के आधार यहाँ जाता वहाँ जाता गिर जाता था लेकिन वो पतंगा का रस्सी आपके आप में आ गई वो ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश है कभी पतंगा वो व्यवहार का कुछ तूफान ऐसा आया कुछ आता है सभी जो आएगा वो तो जो कलयुग का व्यवहार है उससे पतंगा ऐसा जाता है तो देखते ही हम पतंगा ऐसा होता है तो आस्ते वो सीधा हो जाएगा हुँ? हम्म? ये बहुत समझने बात है हम्म? ज्ञान प्रकाश शुद्धात्मा का वो प्रज्ञा से काम करता रहेगा समझे न और आज ये आपने कृपा से प्राप्त किया है और आज्ञा जो पाँच समझाई गई है वो आपका आज्ञा धर्म जीवन बनेगा आज्ञा धर्म का जीवन व्यवहार से और व्यवहार से बनते बनते आपको आहिस्ते आहिस्ते व्यवहार शुद्धिकरण होता जाएगा जितना व्यवहार शुद्धिकरण होगा इतना शुद्धात्मा प्रकाश दर्शन से अच्छी ढंग से दिखाई देगा सब कुछ समझ में आएगा और पीछे इतना ही अपना ज्ञान खुला होता जाएगा आहिस्ते आहिस्ते होता है ये काल में एक आज्ञा आपको जो व्यवहार की अशुद्धि है सेवन सत्तर ऐसी टका शुद्ध कर सकती है और आपका शरीर का जीवन इतना हड़ू हो जाता है हल्का हो जाता है और शुद्धात्मा का आनंद बढ़ता जाता रहता है तो खास करना ये हम्म, आज्ञा वो ही धर्म है आज्ञा वो ही तप है व्यवहार का कैसा भी प्रकार आवे जो हम तप करवाए अंदर से दिल में तो उसमें संभाव से निपटारा करना है हमारे हमारे का व्यवहार की अशुद्धि है वो निकले हमारे से इसीलिए उसको समभाव से वहाँ रहना पड़ेगा आपको सहन होवे ना होवे नहीं देखना है मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये भगवान को ये होता है भगवान दास को बस शुद्ध आत्मा हूँ आप आप है मैं मैं हूँ इतना देखो और थोड़ा रहेगा टिकेगा निकल जाएगा कोई टिकता नहीं कभी भी सभी व्यवस्था विनाशी है सब समझ गए सच्चे ढंग से समझ गए और आज रात को सोने का सोने के समय जो प्रयोग बताया वो खास करके करो आज का दिन और कल सुबह बोलो कितने बजे साहब बोलो कहा नौ बजे नौ बजे नौ बजे अपने हॉल में आप इकट्ठा सब जो ज्ञान में बैठे सभी आ जाना नौ बजे चलेगा हाँ।, हाँ, आ सकेंगे तो जरूर आना और इस साहब प्रयोग स्वरूप से आपका जो रात का अनुभव और सुबह उठते ही हाँ शुद्धात्मा हो गया अनुभव हो जाएगा आपको वो आपका अनुभव बोलना और सभी आगे और भी विस्तार से समझाएंगे और सारा प्रयोग फिर से बोलेंगे सारा ये, ये, ये अभी है ना ये विधि विधि है ना वो सारा संपूर्ण बोलेंगे वो और आपको उसको पश्चात बोलते जाएंगे समझिए ना अब बाकी आखिर का जो बताते हैं पन्ना नंबर एक निकालिएगा ये जो देखो चंद्रमा का किरण बताइए ना चंद्रमा की चंद्रमा देखा है ना तो आज पहला दिन है कल दूसरा दूसरा दिन हो जाएगा शिव जी के बाल पर वो है ना वो उसका वो ओम ओम कारम बिंदु संयुक्तम क्या बोले समझ में आता है ना हाँ ओम कारम बिंदु संयुक्तम हाँ, नित्यम ध्यानती योगी न सभी योगी लोग ओमकार को ध्यान करता है अब तो जीवंत तो ओमकार हो गए अब सभी लोग बनता नहीं कभी भी ध्यान नित्य सभी योगी लोग ध्यान में करेगा आप सब ध्यान में आएंगे बहुत बढ़िया बात है वो हम्म? कामदम मोक्ष और कामदम कामदम मोक्षदम चैव हम्म? तो कामदम में से व्यवहार सभी और मोक्षदम चैव कल्याण क्षेम ओम का राय नमो नम ये शिव जी का आपको जीवंत ऐसा हो गया आप जीवंत मतलब जीवन स्वरूप से सब बनता रहेगा आपको बोलना व्यवहार में अभी हम भगवान दास हैं वो बोलने की ज़रूरत नहीं है सब जानते हैं लेकिन हमें समझना है समझ जो हमें समझना है वो अंदर से समझना है दिल से और जो व्यवहार से है वो बोला जाता है सारा व्यवहार वो अंदर नहीं होना चाहिए जो अंदर से समझना है आज्ञा के अनुसार वो बाहर वाणी में नहीं आना चाहिए इसीलिए सारा आज्ञा धर्म समझ का है समझ समझ करो खुद को खुद के और खुद के सभी व्यवहारों को और आपका ज्ञान का प्रकाश खुला होता जाएगा व्यवहार शुद्धि होती जाएगी और इसी भव में ही होगा और एक एक दो भव में क्योंकि कलयुग में सीधा कल्याण नहीं होता बहुत सारा हो जाता है एक के दो मुक्ति चालू हो गई और एक दो भव में अत्यंतिक हो गई समझे जय बोलो आग यहाँ महात्मा का नाम ये सब में लिखा है देखो महात्मा बताते हैं तो महात्मा आज ज्ञान पाया तो आगे महत्व तो क्या थे आप एक घंटे के आगे क्या थे दो मूड आत्मा थे क्या बताया मूड आत्मा और ज्ञान पाया तो महात्मा बने महात्मा जो व्यवहार में समझते इस ढंग से नहीं है वो अंदर की दशा है वो महात्मा दशा है वो बाहर का व्यवहार नहीं है दिखावे में समझे ना तो महात्मा तो आपका नाम लिख लेना हुँ? हम्म? अभी सब महात्मा स्वरूप से हो गए सभी लोग समझे ना और आपका नाम और लिख लेना और आज का दिवस बहुत महत्व का है आपके लिए क्यों कि आपने शुद्धात्मा जो है वो अजन्मा पद पाया है क्या जो जिसके पश्चात मरण नहीं है ऐसा ही पद पाया है आदमी अपना शरीर का तो जन्मदिन आता है लेकिन ये दिन बहुत अति महत्व का है इसीलिए आज की तारीख नोट कर लो आप सभी के लिए हम्म, और इस हर साल में उसकी खास काजी करो हॉल में जाओ बोलो भाई आज हमारे तरफ से आज हमें कोई बोलेंगे करो और वो देह का जन्म अपना अपना रेगुलर जन्मदिवस आता है ना वो तो व्यवहार से लगाते हैं सब लोग हाँ ये अगत्य का है समझे ना तो अजन्मा जन्म दिवस हुआ आज हम्म, जन्म शुद्धात्मा का हुआ ना हम मैं शुद्धात्मा हूँ हम्म, चलो हो गया सब हाँ हो गया तो ये कल नौ बजे आप जरूर आ जाना जे जिसको अनुभव बताओ कि ऐसा ऐसा हुआ और वो विस्तार से समझाएंगे हाँ। आप विस्तार से हुँ? हम्म, चलो दृष्टान स्वरूप से और जिसमें ज़्यादा जरूर समझ में लगे तो वो पूछना उसको सब समझा देंगे हुँ? और ऐसे तो वाक्य पहुँच सीधे है कि व्यवहार से हम नामदारी है व्यवहार से हम भगवान दास है तो आप अकेले हैं कि कहाँ है हाँ तो व्यवहार से हम भगवान दास है और निश्चय से शुद्ध आत्मा है व्यवहार से मेरी धर्म पत्नी है निश्चय से वो शुद्ध आत्मा है पति पत्नी के संबंध में कभी भी पत्नी को शुद्धात्मा स्वरूप से आज आज तक किसी ने दिखा नहीं और ऐसे देखा जाए तो पत्नी खुश हो जाएगी दिल से खुश है ओह आज से मैं पति पति बोलती थी मेरे देव सुरखे है मेरे पति देव पति देव ये अंदर की समझ की बात है समझे ना तो ये पांच आज्ञा सीधी सादी है फाइव व्यवस्थित शक्ति करता है हम शुद्धात्मा तो करता है वो केवल जानता है देखता है शरीर से क्रिया होती है और शरीर की व्यवस्थित के अधीन होती है समझे तो जानने वाला है वो करने वाले को जानता है और जानने वाला करने वाला अलग ही होता है कभी भी वो लेकिन भ्रांति से एक थे उसीलिए जन्म जन्मांतर से भटकते थे समझे न और फाइलों का संवैधानिक काला फाइलों महीना ये कलयुग का व्यवहार है न तो अगर हम एक नंबर की फाइल है तो शरीर सबसे निकट शरीर है मेरे साथ पत्नी है लेकिन वो तो कभी हो गया तो दूर भी हो सकती है लेकिन अपना मन कैसा होगा तो पहला मन वचन का एक नंबर की फाइल ये सर्वप्रथम आपका संबंध हो या आपका शुद्धात्मा का आपके साथ का ये पहला ये संबंध है रिलेशन है तो बाकी सब रिलेशन अन्यथा कुछ नहीं इसलिए फाइल हो तो बाहर का समग्र व्यवहार है और शुद्धात्मा का खाता भरता जाएगा हुँ? हम्म? चलो सच्चिदानंद अभी अभी आप लोगों को शुद्धात्मा को खाना खिलाएंगे ना बोलो हाँ और नामदारी कौन है खाने वाला है और ना खाने वाला आहारी तो अभी आप बोलो ये आहारी तू भोजन लेने जा हम तो आपके साथ है जाओ बोलो सब अंदर से वो तो लेना पड़ेगा कहाँ जाए चलो हम्म? जाने वाला ही बिहारी है समझ गए ना जाओ अंदर सब कुछ है देखा हो गया भाई चल ले ले जय सच्चिदानंद आ, ये खाने की व्यवस्था वहीं मंदिर पर की गई है तो મંદિર પર જ રાખ્યું છે બધું કાન હા હોલ પર ही है सब